परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे प्रणव ध्वनि प्रेमी सज्जनों आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का छठा मंत्र परमात्मा की स्तुति के रूप में हम आर्यों के लिए भावना उत्पत्ति के लिए आज स्वाध्याय के रूप में हमारे सामने है परमात्मा को बंधु के रूप में कहा सनो बंधु वह हमारा हम सबका बंधु है बंधु का मतलब मित्र है और उसके दो अर्थ महर्षि ने किए दुख नाशक और सहायक है जैसे मित्र हमारे कष्टों को हटाता है और सुख के साधनों को उपलब्ध कराता है ऐसे परमात्मा भी हमारे लिए है इन दोनों कार्यों को करता है यहां मंत्र में न हम सब का ये वचन शब्द पढ़ा गया है एक आर्य केवल ये प्रार्थना करे कि वह परमात्मा मेरा बंधु है मेरा बंधु है अन्यों का बंधु है या नहीं है ये नहीं सोच रहा है अपने को ध्यान में रखते हुए वो परमात्मा को बंधु देख रहा है ये एक भावना हो सकती है ये भी अच्छी भावना है किंतु इसमें बहुत सी त्रुटियां होने की संभावना रहती है जब हम परमात्मा को अपना बंधु मान करके व्यक्तिगत चल रहे होते हैं तो परमात्मा से ऐसी कामना प्रार्थना भी कर बैठे सकते हैं कर सकते हैं जो कि अन्यों के विपरीत पड़ रही हो क्योंकि जब संबंध हमने व्यक्तिगत बना लिया है तो अपने से संबंधित ही हितकर बात को चाहेंगे और अहितकर बात को हटाना चाहेंगे लेकिन जिस समय कोई आर्य ये प्रार्थना कर रहा है कि आप हमारे बंधु हो तो ये साथ में जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से परमात्मा मेरा बंधु है वैसे ही वो अन्यों का भी बंधु है जितना और जिस स्तर का बंधु हित चिंतक वो मेरा है उतना ही वो दूसरे का भी है वो सबका हित करता है वो सबके दुखों को नष्ट करता है और जब ये भाव साथ में रहेगा तो प्रार्थना अलग ढंग से निकलेगी कामनाएं परमात्मा से अलग ढंग से होंगी तो मंत्र में स न हम सबका बंधु है जनिता वो हम सबका उत्पन्न करने वाला भी है सविधाता वो विधान करने वाला भी है धारण करने वाला भी है जो बंधु होता है उसे हम अपना उत्पादक नहीं मानते उसे हम समानता का स्तर देते हैं मित्रों से भाई बहन से उस समानता का संबंध रहता है बंधु से हम कुछ इस तरह की भी कामना करने लग जाते हैं जो कि उतने आदर पूर्वक नहीं होती है समानता को लेकर के होती है तो परमात्मा बंधु है लेकिन जनिता भी है उत्पन्न करने वाला भी है उत्पन्न करने वाले को हम बड़ा समझते हैं वो बड़ा होता है तो परमात्मा को बंधु जानते हुए भी उसको जनिता भी कहा गया हमारे मन में उसके प्रति जनिता वाला उत्पन्न करने वाला आदर भी होना चाहिए और जो जनिता होता है उसके प्रति हमारा ये भाव बन जाता है कि वो हमारे हित के लिए कुछ भी करेगा जैसे लौकिक स्तर पे हम देखते हैं माता पिता गुरुजन उस तरह का व्यवहार करते हैं कुछ उनका हमारे से लगाव हो जाता है तो वो फिर हमारे पक्ष में भी कुछ बातें ऐसी कर देते हैं जो कि न्यायपूर्वक नहीं होती उचित नहीं होती है लेकिन परमात्मा बंधु भी है जनिता भी है लेकिन विधाता भी है धारण भी करता है और विधान भी हमारे लिए हमारे धारण के लिए विधान भी करता है जैसे एक शासक होता है एक राजा होता है राजा हमारे को धारण भी करता है लेकिन माता पिता की तरह से नहीं वहां उसके लिए न्यायपूर्वक धारण की अनिवार्यता होती है माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं अन्यायपूर्वक भी कुछ कर लेते हैं उसकी योग्यता से अधिक भी दे देते हैं तो एक स्तर पर स्वीकार्य हो जाता है ये माता पिता की संपत्ति है बच्चे उत्तराधिकारी हैं वो कर देता है उनकी बहुत सी त्रुटियों को माफ कर देते हैं नजरअंदाज कर देते हैं इस तरह के व्यवहार जनिता में और मित्र में परस्पर देखे जाते हैं बंधु और जनिता में देखे जाते हैं राजा भी हमारा मित्रवत होता है राजा भी हमारा जनितावत होता है पालक होता है लेकिन राजा से ये अपेक्षाएं नहीं की जाती कि वो अयथा योग्य व्यवहार करने लगे हमारे दोषों को क्षमा कर दे माफ कर दे हम कुछ भी करते रहे सहन करता रहे ऐसी अपेक्षा कोई राजा से नहीं कर सकता माता पिता अपने बच्चों के प्रति ये भाव रख सकते हैं रखते हैं उसे उचित भी मानते हैं लेकिन राजा से ऐसा भाव ऐसी अपेक्षा वो माता पिता भी नहीं करेंगे मित्र और मित्र आपस में ये भाव रखते हैं कि हम कोई दोष हो जाए तो छुपा दें उसको दूसरों तक प्रकट ना करें दंड ना दें लेकिन वो ही मित्र राजा से ऐसी अपेक्षा नहीं रखेंगे रखनी भी नहीं चाहिए तो परमात्मा हमारा बंधु है जनिता है लेकिन विधाता भी है वो नियम पूर्वक भी करता है न्याय पूर्वक भी करता है और चूंकि वो समस्त विधान करता है हमारा सब तरह से धारण करता है तो वो बिल्कुल उचित है उसके लिए कहा वेद भुवनानि विश्वा वो इस सबको जानता है समस्त भुवनों को समस्त जगत को हर चीज को यथावत जानता है इसलिए वो ठीक ठीक विधान कर सकता है इसलिए वो ठीक ठीक धारण कर सकता है माता पिता और बंधु जो हमारा धारण करते हैं उसमें हमारी हानि भी होती है क्योंकि वो सब कुछ नहीं जानते अज्ञानता पूर्वक हमारी हानि करते रहते हैं हित करने की इच्छा रखते हैं हित करने का प्रयास करते हैं लेकिन अज्ञानता से वो हानि भी करते रहते हैं तो परमात्मा ऐसा नहीं है राजा भी हमारी हानि कर देता है उससे गलत निर्णय होते हैं लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है क्योंकि वो सब कुछ जानता है सब भुवनों को सब लोगों को सब वस्तुओं को ठीक ठीक जानता है और ठीक ठीक जानते हुए वो विधाता है विधाता होते हुए भी वो जनिता है और जनिता होते हुए भी वो बंधुवत भी है मित्रवत भी है ऊपर के गुणों के अनुसार नीचे का जो अवकाश शेष बचता है वो उसका स्वरूप वहां पर हमें लेना होगा बंधु की तरह से वो जनिता बन जाए जैसा बंधु होता है वैसा स्वभाव जनिता का हो ऐसा नहीं बंधु और जनिता का जैसा स्वभाव होता है वैसा विधाता का भी है ऐसा नहीं और विधाता जैसा होता है वैसा ही उसका भी ज्ञान होगा ऐसा नहीं वो सबको जानता है पूरी तरह और तदनुरूप वो विधाता है राजा है और राजा होते हुए उसमें जनिता का पालन करने का भी गुण है उत्पन्न करने का भी गुण है और उत्पन्न करने का गुण होते हुए भी वो मित्रवत व्यवहार कर लेता है मित्रता के भी उसमें गुण है और चूंकि वो परमात्मा ऐसा है विशिष्ट है उसकी हम कामना करें हम उसकी स्तुति कर रहे हैं ताकि हम उसकी कामना करें पाने की पाने का प्रयास करें और उसके लिए पुष्टि की जा रही है कि यत्र देवा अमृतम आनशाना विद्वान लोग देवता लोग भी जिसके आश्रय से रहते हैं जिसके आधार पर जाते हैं वहां पर उसके आनंद का उपभोग करते हैं कोई आर्य ये सब मानते हुए भी कि परमात्मा ऐसा ऐसा है उसके मन में कहीं शंका रहे कि हो सकता है मैं गलत मानता हूं जानता ठीक है और जितना जान रहा है वो पता है कि हाँ ये ठीक है लेकिन फिर भी एक आशंका मन में होती है विभिन्न लौकिक विषयों में भी हम किसी विषय में जान लेते हैं कि हाँ ये ठीक है लेकिन फिर भी एक अपने प्रति अविश्वास भी होता है हो सकता है मैं गलत हूं क्योंकि मैं गलतियां भी करता रहता हूं गलत जानता भी रहता हूं इसलिए संदेह रहता है कि मैं ये जो परमात्मा का स्वरूप मान रहा हूं ये ठीक है या नहीं है और ये जो इन स्वरूपों वाला परमात्मा है वो प्रापणीय है या नहीं है कहीं मैं भ्रांति से उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा हूं तो प्रमाण के रूप में कि देवता लोग भी श्रेष्ठ लोग भी ज्ञाता लोग भी विद्वान लोग भी उसी परमात्मा को चाहते हैं और उस परमात्मा को पाकर के ही आनंदित होते हैं ये अपनी पुष्टि के लिए अपने विश्वास के लिए ये बात हुई यत्र देवा अमृतम आनशाना और ये परमात्मा की स्तुति भी है कि देवता लोग भी विद्वान लोग भी परमात्मा में ही परम आनंद को समझते हैं और पाते हैं आगे कहा तृतीय धामन अध्ययंत और ये विद्वान लोग उसके उस तृतीय धाम में स्वेच्छापूर्वक स्वतंत्रता से निर्बाध रूप से गमन करते हैं आते जाते हैं और समस्त इच्छाओं को प्राप्त होते हैं आप्त काम होते हैं प्राप्त काम होते हैं निष्काम हो जाते हैं कृतकृत्य हो जाते हैं ऐसा वो परमात्मा है महर्षि ने यहां पर व्याख्या में परमात्मा के लिए कुछ विशेष वाक्य लिखे हैं एक तो परमात्मा को तृतीय इत्यादि करके जो लिखा तृतीय धामन तो उसमें हमारे लिए एक तो स्थूल यानी जगत पृथ्वी आदि और दूसरा सूक्ष्म उसके आगे लिखा है अनादि कारण उसके बाद कोष्ठक को बंद कर लीजिए ये दूसरा वाला कारण दूसरा सूक्ष्म वो पूरा हो गया आदि कारण दूसरा सूक्ष्म आदि कारण ये यहां पर ये दूसरा पूरा हो, हो गया अब जो सर्वदोष रहित अनंत आनंद स्वरूप पर ब्रह्म ये तीसरा धाम है ये शब्द छूट गया है दूसरा सूक्ष्म और तीसरा जो यहां पर हम जोड़ वाक्य जोड़ सकते हैं तीसरा जो सर्वदोष रहित अनंत आनंद स्वरूप पर ब्रह्म उस धाम में तो ये तीसरा धाम वो परमात्मा स्वयं है मुक्ति के लिए कई जने परिकल्पना इस प्रकार की करते हैं कोई विशेष धाम होगा स्थान होगा जहां की मुक्त आत्माएं रहती हैं तो किसी देश आदि से वो बंधा हुआ न हो करके परमात्मा जहां है वो सब परमात्मा का धाम है यहां भी और अन्यत्र भी सब जगह परमात्मा है और वही परमात्मा का धाम है परमात्मा की सन्निधि में परमात्मा के आनंद में रहना यही उसका तीसरा धाम है परमात्मा इस कार्य जगत को बनाता है और इसमें हम विचरण करते हैं ये एक स्तर है और एक मूल प्रकृति है वो एक दूसरा स्तर है इन दोनों से पृथक एक तीसरा इन दोनों से रहित एक तीसरी स्थिति है जो कि परमात्मा के आनंद की है जिसे कि मुक्ति कहते हैं ये परमात्मा का तीसरा धाम है वहीं हम पूरी तरह से स्वतंत्र रह सकते हैं इस कार्य जगत में कितने भी हम स्वतंत्र हों कितनी भी स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो तो भी हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते बहुत सारी बाधाएं सीमाएं हमारे साथ जुड़ी रहती हैं जिस स्वतंत्रता को हम चाहते हैं निर्बाध स्थिति को चाहते हैं किसी तरह की कोई बाधा ना हो न शरीर की न बुद्धि की न इंद्रियों की न अन्य सहयोगियों की हर जगह कहीं भी हमें सीमा लगती है शरीर हमारा सहयोगी है लेकिन उसकी भी एक सीमा लगती है कि इसके आगे अब शरीर काम नहीं कर रहा है बुद्धि से बहुत सहयोग मिलता है लेकिन फिर भी एक सीमा रहती है कि नहीं इससे आगे अब बुद्धि नहीं जा सकती मित्र बंधु सहयोगी बहुत सहयोग करते हैं लेकिन उन सबकी एक सीमा है उससे आगे वो सहयोग नहीं कर पाते और वो उस दृष्टि से हम परतंत्र होते हैं हम उससे आगे नहीं जा सकते मुक्ति में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं परमात्मा की सन्निधि से परमात्मा के सहयोग से ये सब चीजें जो हम चाहते हैं वो सब वहां पर पूर्ति होती हैं आनंद की प्राप्ति होती है इसलिए वो पूरे स्वच्छंद स्वच्छंद निंदित अर्थ में नहीं उच्छृंखल अर्थ में नहीं लेकिन अपने पूरे नियंत्रण में जैसी इच्छा होती है आप्त काम प्राप्त काम वहां इच्छा अनुसार विचरण होता है ये विशेष स्थिति तीसरे धाम की कही और प्रारंभ में जनिता का अर्थ करते हुए महर्षि लिखते हैं सब जगत तथा हम लोगों का भी पालन करने वाला पिता तथा हम लोगों के कामों की सिद्धि का विधाता पूर्ण काम की सिद्धि करने वाला वही है पूर्ण काम की सिद्धि करने वाला वही परमात्मा है इस पूर्ण शब्द को काम के साथ भी जोड़ सकते हैं जैसा कि यहां लिखा है हमारा पूर्ण काम क्या है हमारी पूर्ण कामना क्या है हम आत्मा क्या चाहते हैं उसकी पूर्ति सिद्धि करने वाला मात्र वही परमात्मा है हम जो दुख रहित सुख की स्थिति चाहते हैं उसको केवल परमात्मा ही पूर्ण कर सकता है और दूसरा इसका अर्थ है पूर्ण का मतलब है समस्त हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला सिद्धि करने वाला वही है अन्य जितने भी सहायक हमें दिखाई देते हैं हमारी कामनाओं की सिद्धि करने वाले वो आंशिक सहयोगी हैं वस्तुतः इन सब के पीछे वह परमात्मा है तो इस पंक्ति का एक दूसरा अर्थ हो सकता है कि समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाला वही है समस्त उचित कामनाओं की और इस पूर्ण शब्द को यदि हम यहां से हटा करके सिद्धि के साथ में जोड़ें कि वो विधाता काम की यानी कामनाओं की पूर्ण सिद्धि करने वाला वही है अन्य लोग हमारी आंशिक सिद्धि करते हैं परमात्मा ही पूर्ण सिद्धि करता है और परमात्मा के जितने भी कर्म हैं परमात्मा जितना भी कुछ हमारे लिए कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि हमारी कामना पूर्ण हो जाए जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सके उसने सारी व्यवस्थाएं इसीलिए की हैं हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए हम जिस सुख को चाहते हैं उस तक पहुंच सकें वो सब उसने किया है परमात्मा की व्यवस्थाएं हमें अनेक बार बाधक प्रतीत होने लगती हैं हमें लगेगा कि हम जो चाहते हैं उसमें परमात्मा ही तो बाधक खड़ा हो गया है कोई व्यक्ति अधिक भोजन करना चाहता है लेकिन पेट भर जाएगा अधिक और खा लेगा तो भारीपन रहेगा बेचैनी रहेगी उल्टी हो सकती है पेट दर्द हो सकता है तो परमात्मा ने हमारी इच्छाओं में बाधा खड़ी कर दी हम चाहते हैं कि अधिक खाएं संसार का सुख अधिक भोगें लेकिन परमात्मा ने बाधा खड़ी कर दी इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं रहती शक्ति नहीं रहती उस वस्तु का रस या सुख आना बंद हो जाता है परमात्मा बाधा खड़ी कर रहा है ये किसने किया कि पहला रसगुल्ला हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है लेकिन दसवां रसगुल्ला उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है वस्तु वही है लेकिन उसका रस आना बंद हो जाता है कम हो जाता है बेस्वाद हो जाता है वो उससे अरुचि हो जाती है ज्यादा खा लो तो जबकि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को भोजन में अंत तक दसवें रसगुल्ले तक पांचवें रसगुल्ले तक वही आनंद आता रहे सुख आता रहे लेकिन परमात्मा बाधा खड़ी कर देता है हम चाहते हैं कि करते ही रहें काम करते ही रहें उन्नति करते ही जाएं और और हो परमात्मा बाधा खड़ी कर देता है नींद ले आता है थका देता है हमारे को उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हम काम करते हैं तो थक जाते हैं घंटा दो घंटा दस घंटा बारह घंटा सोलह घंटा सोचने वाला इस तरह सोच सकता है कि परमात्मा हमारी इच्छाओं की पूर्ति कहां करता है वो तो बाधाएं खड़ी करता है मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरे सिर में दर्द कर दिया आंखों में दर्द हो गया सिर में भारीपन आ गया इत्यादि लेकिन महर्षि का वचन है परमात्मा हमारे कामनों का की पूर्ण सिद्धि करने वाला है पूर्ण कामों की सिद्धि करने वाला है हमारे हर काम की सिद्धि करने वाला है जब हम अधिक खाते हैं हमारी अधिक खाने की इच्छा है लेकिन क्या स्वस्थ रहने की इच्छा हमारी नहीं है वो भी तो इच्छा है परमात्मा वो भी इच्छा जानता है ये स्वस्थ भी रहना चाहते हैं ये खुद नहीं रोक रहा है तो मुझे इनके रोकना चाहिए उसने व्यवस्था ऐसी बना दी है परमात्मा हमारी सब कामनाओं को पूरी तरह जानता है इसलिए उसने ऐसी व्यवस्थाएं की है नहीं तो हम अपनी तात्कालिक कामना के लिए जो कामना हमें अभी दिखाई दे रही है और वो ही जैसे सबसे बड़ी कामना बनी हुई है किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी सुख की प्राप्ति के लिए किसी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए एक कामना बन गई है और हमें केवल वही दिखाई दे रही है उससे होने वाले दुष्परिणाम अति में जो हानियां होती हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उन हानियों को हम चाहते नहीं है कामना तो हमारी यही है कि वो हानियां ना आए लेकिन हमारा विवेक काम नहीं कर रहा है हम निर्णय नहीं ले पाते तो परमात्मा ने ये बाधाएं खड़ी की हैं किसके लिए कि हम अपनी अधिक हानि ना कर बैठे हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो इसके लिए उसने ये बाधाएं खड़ी की हैं ये बाधाएं नहीं है ये हमारे लिए सहायक हैं हमें रोग आ जाते हैं शरीर में रोग पैदा होते हैं परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है अब कामना करने को तो कोई कर सकता है कि परमात्मा रोग ही पैदा नहीं करता तो बहुत अच्छा रहता ऐसा शरीर बना देता जिसमें रोग ही पैदा नहीं होते परमात्मा ने ऐसा शरीर बनाया है कि यदि हम गलत आहार विहार करेंगे तो रोग आएंगे परमात्मा चाहता है कि ये जो भोग की तरफ जा रहा है अति कर रहा है बुरे संस्कार अपने पे डाल रहा है उसको रोके ये हम नहीं रोकेंगे तो वो रोक देगा वो पिता है वो राजा है वो विधाता भी है जैसे बच्चा यदि कोई गलत काम करने लगे अति करने लगे तो माता पिता उसको दंड दे करके थप्पड़ मार के एक तरफ कर देते हैं भले ही वो रो रहा हो राजा उसको अलग कर देता है भले ही वो रो रहा हो ये उनके हित के लिए किया जाता है परमात्मा का जो भी कार्य है जो भी व्यवस्था है वो हमारे हित के लिए हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए है परमात्मा जितना भी कुछ कर रहा है वो हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कर रहा है ये सारी सृष्टि उसने हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही बनाई है और कोई प्रयोजन ही नहीं है उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है जड़ वस्तु का अपना कोई प्रयोजन नहीं है कोई अनिवार्यता बाध्यता नहीं है तो परमात्मा को आर्य इस रूप में देखता है कि वो विधाता है वो ही हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है उसका प्रत्येक कार्य उसका प्रत्येक नियम हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए है इस तरह से हमें रोकना है कि वो हम ठीक रास्ते पर चलते चले जाएं, विवेक को प्राप्त हो जाएं। कुएं का पानी ठीक स्थान तक पहुंचे ठीक क्यारी तक पहुंचे उसके लिए यदि मेड़ बनाई जाती है और नाली की दीवारें खड़ी की जाती हैं वो बाधक नहीं माने जाते वो बाधाएं भी हैं तो किस लिए तो पानी ठीक जगह पर पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए पानी की उपयोगिता जहां सर्वाधिक है वहां तक पहुंच सके उसके लिए ये दीवारें खड़ी की गई हैं ये स्वतंत्रता को नहीं रोका जा रहा है ये कामनाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा ने सारी की सारी व्यवस्था की है तो महर्षि का वचन है कि हम लोगों के कामों की सिद्धि का विधाता पूर्ण काम की सिद्धि करने वाला वही परमात्मा है तो इस प्रकार के परमात्मा को मन में आर्यों को रखना होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्यों के मन में इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो इसलिए महर्षि ने इस मंत्र को यहां पर आर्य अभिविनय में लिखा है किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए सत्यव्रत जी आज के बारे में पहले रामदेली जी सब चीजों को जानता है क्योंकि भुवन भी है धाम धामानी है तो नाम स्थान जन्मों को जानता है जितने भी वस्तुएं हैं उनके नाम को उनके स्थान को जन्म यानी उनकी उत्पत्ति को यानी उनके बारे में सब कुछ वो जानता है ठीक है हाँ जी धर्मात्मा विद्वान लोग स्वच्छंद स्वेच्छा से सर्वदोष रहित अनंत आनंद स्वरूप पर ब्रह्म उस धाम में मुक्ति की अवस्था का वर्णन है उस धाम में परमात्मा में धर्मात्मा विद्वान लोग स्वच्छंद यानी स्वेच्छा से वर्तते हैं विद्यमान रहते हैं जो उनकी इच्छा होती है उस सबको वहां पर प्राप्ति होती है जिस सुख की उनको कामना है वो वहां पर प्राप्त होता है जिस दुख रहितता की उनको कामना होती है वो वहां पर होता है जिस ज्ञान की उनको कामना होती है परमात्मा को वो जानना चाहते हैं इस दृष्टि से कहीं भी देश देशांतर में लोक लोकांतर में अव्याहत गति से वो गमन कर सकते हैं ये उनकी स्वच्छंदता है स्वतंत्रता है ये सब परमात्मा की सहायता से इच्छा मात्र से परमात्मा उन्हें पूरा करता है यही वहां उसकी विशेषता यही मुक्ति का ऐश्वर्य है यहां हम कितनी इच्छाएं करते हैं नहीं पूरी कर सकते पूरी नहीं होती हैं बहुत कम इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं हो सकती हैं वहां सब चीजें प्राप्त होती हैं इस रूप में यहां पर अभिप्राय है इसी को और आगे जो लिखा है सब बाधाओं से छूट के सर्वदा विज्ञानवान शुद्ध होके देश काल वस्तु परिच्छेद रहित सर्वगत धामन आधार स्वरूप परमात्मा में रहते हैं धामन का अर्थ वो परमात्मा ही लिया है यहां पर वो स्तुति प्रार्थना के मंत्रों में अर्थ किया है तो न कोई देश का प्रतिबंध वहां पर है न काल का प्रतिबंध है कि अभी दिन है या रात है अभी जा सकते हो अभी नहीं जा सकते हो कोई प्रतिबंध नहीं है वस्तु का कोई परिच्छेद नहीं है बाधा नहीं है कि यहां तो दीवार खड़ी है अभी रास्ता रुका हुआ है रेलवे का फाटक है वो रुका हुआ है अभी जा नहीं सकते वस्तु का कोई परिच्छेद वहां पर बाधक नहीं है देश काल वस्तु कोई बाधक नहीं है वो सर्वगत परमात्मा है वहां सब जगह आत्मा भी पहुंच सकता है ठीक है अपनी इच्छा से विचरते हैं हाँ। तो, तो परमात्मा की सहायता हाँ परमात्मा की सहायता की आवश्यकता फिर भी रहती है क्योंकि उसके पास साधन नहीं है शरीर आदि कोई साधन नहीं है अन्य कोई साधन नहीं है और आत्मा की अपनी सामर्थ्य बहुत कम है वो ऐसा कर नहीं सकता है इच्छा तो आत्मा की होगी जो वो चाहता है जो उसकी मूल इच्छा है परमात्मा उसकी पूर्ति करता है परमात्मा की सहायता सामर्थ्य के बिना मुक्ति में ये सब चीजें प्राप्त नहीं हो सकती यहां भी नहीं होती है हमें वहां भी नहीं होती है वहां तो इतने भी साधन नहीं है हमारे पास और वहां इन साधनों की आवश्यकता इसीलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा की सहायता विद्यमान है उस तरह की सहायता परमात्मा की वो सहायता यहां हमें विद्यमान नहीं है यहां उसने दूसरे साधन दिए हैं सीमित साधन है ये निंदित अर्थ में वो मैंने पहले भी कहा कि यहां उस अर्थ में हम नहीं लेंगे जो उच्चृंखल अर्थ है या निंदित अर्थ है इसको यहां निंदित अर्थ में हम नहीं ले सकते हैं मुक्ति का प्रसंग है और एक अच्छे अर्थों में ये बात रखी जा रही है अच्छा, सत्यवती और मतलब तो भाई ये नहीं समझा गया या किस कारण दूसरी दूसरी बात एक आया है वो नीचे से भाष्य है नीचे से तीसरी पंक्ति नेहरू के बाद पुष्टि सरल गति कराने और मर्म स्थलों की रक्षा कराने वाले तो मर्म स्थल कौन से हैं और एक तरह से परमात्मा का आदेश भी है कि मर्म स्थल की रक्षा करनी चाहिए तो मर्म स्थल की रक्षा कैसे करनी चाहिए देखिए जहां वेदों में ऋक यजु साम ये शब्द आते हैं तो उनके अपने कुछ लक्षण हैं इन तीन में ही सारे वेद भी माने जाते हैं वो एक दृष्टि है और यदि हम संहिता के रूप में भी देखें तो ये आवश्यक नहीं है कि अथर्वेद का भी उल्लेख करना ही चाहिए हो सकता है कहीं एक का भी कर दें दो का भी कर दें तीन का भी कर दें लेकिन हमारे तत्व तीन ही रहते हैं ज्ञान कर्म और उपासना हमारे लिए जो करणीय रहते हैं वो क्या रहते हैं ज्ञान कर्म और उपासना विज्ञान तो उत्पन्न हो जाता है इनसे विज्ञान उत्पन्न होता है एक है कि हम अभी विज्ञान को जान जानना चाहते हैं जैसे आधुनिक विज्ञान है ये तो ज्ञान के क्षेत्र में ही आ गए यदि हमारा ज्ञान ठीक है सब प्रमाणों से युक्त है हम कर्म भी कर रहे हैं और उपासना भी कर रहे हैं तो जो स्थिति प्राप्त होती है स्थिरता प्राप्त होती है वो विज्ञान की स्थिति है वो अथर्वा की स्थिति है अकंप स्थिति है वो प्राप्त हो जाती है तो हमारे को जो करणीय चीजें हैं वो मुख्य रूप से इन तीन में है इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि हमारे से संबंधित तो तीन बातें कहीं अथवा रिक का मतलब तो जहां पर अर्थवशात पाद व्यवस्था हो उन समस्त को ग्रहण करेंगे उसमें अथर्वेद के भी मंत्र आ जाएंगे यजु मतलब तो जो गद्य रचनाएं होती हैं और साम जो गीति होते हैं गायन जहां होता है तो वो उस दृष्टि से अगर हम व्याख्या करते हैं तो चारों वेदों के समस्त मंत्र इन तीन संज्ञाओं में आ जाते हैं और यदि इनको हम संहिता के रूप में ले रहे हैं जिस तरह का मैंने कल प्रस्तुत किया था तो अथर्व को इस रूप में कि उसके लिए हमारे लिए करणीय नहीं वो तो स्थिति को हम प्राप्त हो जाते हैं ज्ञान कर्म उपासना को करते करते विज्ञान एक स्थिति है और अगर उसको यहां नहीं भी लिखा है तो कोई आपत्ति नहीं है अगर विज्ञान को भी हम प्राप्त करते हैं आप ये कहना चाहें उसमें भी हमारा प्रयत्न अपेक्षित है ठीक है वो भी मान सकते हैं लेकिन उसको भी यहां लिखा हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि लिखना चाहिए ही हम्म। ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है तो इसका क्या ये तात्पर्य अथर्वेद का चिंतन स्वतः मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये तो भाव कह रहा हूं मैं ज्ञान ऋग्वेद पढ़ना चारों वेदों को है जानते हैं हम करना चाहिए उसके लिए भी ईश्वर ने कहा है लेकिन स्थितियां जो बनती हैं ज्ञान के अनुरूप हम कर्म करते हैं उपासना करते हैं उसके बाद में जो स्थिति बन जाती है हमारी स्थिरता जो प्राप्त हो जाती है वो अथर्व स्थिति है वो विज्ञान की स्थिति है वो अविप्लव स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है ज्ञान के स्तर में उतार चढ़ाव होता है जानने पर भी लेकिन जब फिर कर्म भी किए फिर उपासना भी की फिर जो स्थिति बनती है ज्ञान की ही एक विशेष स्थिति है वो विज्ञान है वो वो स्थिति होती है जिसमें ऊंचा नीचा नहीं होता है विप्लव नहीं होता है च्युति नहीं होती है नीचे नहीं गिरता है और वो अथर्व शब्द भी बोलता है कंपन नहीं होता है वहां पर अथर्व कंपायमान चलायमान स्थिति नहीं होती है स्थिर दृढ़ स्थिति बन जाती है वो विज्ञान है वही ज्ञान की उच्च स्तम स्थिति है वो इन नीचे की स्थितियों को करते करते वहां पहुंच जाते हैं हम हाँ तो मर्म स्थल मर्म का मतलब होता है जो हम जिन स्थलों पर आघात आदि होने से हमको अधिक हानि हो जाती है जो मृत्यु के कारक या हानि के कारक स्थल होते हैं उन्हें मर्म कहा जाता है तो मर्म की बहुत विस्तार से चर्चा आयुर्वेद में है सुश्रुत संहिता में विस्तार से है मर्मों के भी बहुत सारे भेद किए गए हैं कुछ मर्म ऐसे होते हैं जो मृत्यु तक को देने वाले होते हैं कुछ मर्म ऐसे होते हैं जो केवल दुख को देने वाले होते हैं तो जैसे नेत्र है ये हमारे मर्म स्थल है बहुत हैं 108 मर्म उससे ज्यादा अलग अलग संख्याएं दी हैं उनके विभाजन भी किए हैं कि इतने ये मर्म हैं इतने वैकल्यकर हैं इतने मृत्यु कारक हैं इतने ये हैं उनका वर्गीकरण है संख्याएं हैं नाम है सब वर्णन विस्तार से है वहां पर तो कुछ मर्म स्थल होते हैं जहां की चोट लग जाए तो बहुत हानि हो जाती है ये खासतौर से हमारी इंद्रियां हैं ऐसा है यहां भी कोई मार दे तो जैसे ये जिसको हम कनपटी बोलते हैं या ये भाग है यहां चोट लगने पे जल्दी मूर्छा आ जाती है हम नाक है ये भी एक मर्म स्थल है यहां चोट लग जाती है तो खून बहुत जल्दी आने लग जाता है यहां जो अंदर धमनियां हैं शिराएं हैं वो बिल्कुल निकट में बाहर रहती है इसलिए यहां चोट लगने पर एकदम आदमी तिल मिला जाता है और खून भी बहुत जल्दी बहने लग जाता है दूसरी जगह तो नहीं होता इतना ऐसे हृदय प्रदेश है मलमूत्र के त्याग के स्थान है इसके अलावा भी कुछ स्थान होते हैं और जो विभिन्न सेना में भी ये सिखाया जाता है कि दूसरे को अपने वश में करना हो तो कौन सा मर्म स्थल है ये हो गया कंठ स्थल हो गया ऐसे कुछ स्थल होते हैं जिसको होते ही एकदम मर्म स्थल है वो व्यक्ति एकदम काबू में आ जाता है एकदम उसको बेचैन हो जाता है मूर्छित हो जाता है ऐसे वो जो स्थल है वो मर्म कहलाते हैं और जो अपनी युद्ध कलाएं हैं वहां भी इस तरह की बातें होती हैं कि भाई इस जगह आप मारो इस जगह करो ऐसे नियंत्रित अच्छी तरह से कर सकते हो आप इत्यादि वो शरीर में भी होते हैं और बहुत जगह वो मर्म का वर्णन है तो जो हमारे मृदु स्थल हैं जिन पे आघात होने पे हमें अधिक हानि हो सकती है उन स्थलों की रक्षा करने वाले भी आप हो परमात्मा ने बहुत सारे स्थल ऐसे बनाए हैं अब हमारे यूं देखें तो मस्तिष्क हमारा कितना मृदु और सबसे मर्म स्थल है अंदर से उसमें थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो जाए तो बहुत हानि हो जाती है तो उसके लिए परमात्मा ने इतनी कठोर हड्डी बनाई है उसके ऊपर आवरण दिया है कैसी सुरक्षा की है नीचे आ रही है तो रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत चारों तरफ से हड्डी के बीच में से उसको निकाला है और गतिशील भी रहे उसके लिए उसमें उसने टुकड़े टुकड़े किए हैं जो अलग अलग इत्यादि मर्म स्थलों की वो रक्षा करने वाला है धमनियां हैं वो हमारे शरीर में अंदर गहराई में ज्यादा होती हैं बाहर नहीं होती हैं शिराएं बाहर होती हैं ताकि कट भी जाए तो ज्यादा खून ना निकले सब तरह से हमारी सब तरह से रक्षा करने के लिए खाने के लिए यहां रक्षा है वहां रक्षा है नाक में है मुंह में है पेट में है सुरक्षा तंत्र परमात्मा ने बहुत बना रखे हैं उन सब मर्म स्थलों की आंख है तो पलक भी बना रखी है कैसे हम हम न चाहते हुए भी कुछ आते ही तो आंख अपने आप भी बंद हो जाती है हमें तो बाद में पता लगता है कि कोई तिनका आ रहा है या कोई अचानक आ रहा है स्थिति ऐसी है कि हम हमारे प्रयत्न सीधे प्रयत्न के बिना भी एकदम से बंद हो जाती है वो इस इन मर्म स्थलों की इन सब की रक्षा का उपाय परमात्मा ने किया है परमात्मा इनका रक्षक भी है इसको भी यहाँ वो स्थल कहते हैं पीछे वाला भी और दूसरा यहाँ जो रहता है तालू वाला भाग जो छोटे बच्चों में रहता है बड़े होने पे तो वो हड्डी जुड़ जाती है हड्डियां जो है यहाँ पर चार बड़ी उनका जो को मिलने का स्थान है जो एक कौ रुपये जैसा बड़ा गोल सा यहाँ स्थान रहता है आप छोटे बच्चों के यहाँ सिर पे हाथ रख के देखेंगे ना तो एक मृदु स्थल दिखाई देता है नरम रहता है वहां हड्डी नहीं रहती है शुरू में थोड़ा रक्त संचार होता है इसलिए बहुत जो शिशु होते हैं उनमें यहां पर आप मिलता है हाथ को छूने से पता लगता है हमें धीरे धीरे किशोर होते होते बड़ा होते होते वो हड्डी के रूप में बन जाता है वो भी है ये भी है <clears throat> ठीक है इसको इतना रखते हैं व्रतमणि जी ऋग्वेद का ज्ञान यजुर्वेद का कारण सामवेद की भावना में का भी अंतर्भाव हो जाता है तो फिर ये तो सभ्यता तो पूर्णता हम देखते हैं कि हमें <laughs> किसी भी दिन एक ऐसी भावना होती है कि यहाँ आके क्या है कि छूट किया जाए कोई भी छूटेगा तो हमें हानि होगी कुछ भी नहीं छूटना है अवस्था अधीनता की हीनता की हो जाती है एक तो विचय उत्पन्न करती ठीक है ये भी परमात्मा की रक्षा है कि हमें न्यूनता होती है तो हमें बेचैनी होती है कि ये पूरी होनी चाहिए हमें कमी लगेगी हम संतुष्ट नहीं हो सकते तभी तो हम प्रयत्नशील हैं और यदि जितना भी जानते हैं उसी में हम जब संतुष्ट हो जाते हैं जो तमोगुण का लक्षण है ऐसे ही हम हो जाते हैं तो प्रगति नहीं होगी लेकिन वो बेचैनी रहेगी पूर्ण संतुष्टि आ ही नहीं सकती जब तक हम पूर्णता को प्राप्त न हो जाएं तब तक वो संतुष्टि आएगी ही नहीं कुछ समय के लिए आएगी फिर हट जाएगी फिर लगने लगेगा ये तो स्थिति नहीं है इससे और कुछ जाना चाहिए इसमें भी कुछ समस्या है ये ज्ञान के लिए ज्ञान के रूप में भी और सुख साधनों के रूप में भी जब तक हम उस चरम तक नहीं पहुंच जाते परमात्मा रुकने नहीं देगा हमें उस स्थिति के प्रति अरुचि उपेक्षा बेचैनी पैदा कर ही देगा वो उसने वो इस व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है जितना आज पाकर के हम संतुष्ट हो जाते हैं कुछ दिनों बाद में वो संतुष्टि समाप्त हो जाएगी वहां पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है तो हम ये इच्छा सतत रखें कि हम वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें हमने कम प्राप्त किया है तो बेचैनी रहेगी उतनी कमी रहेगी हमारे को तो इसको यही समाप्त करते हैं परमात्मा को समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाला हम सब का बंधु स्वीकारते हुए भावना रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण ओ, ओ शांतिरक्ष शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शांति शान्तिः शान्तिः शान्तिः सर्वेभ्यो नमः ओके